બેવડે બાવડે છે જે કઈ ગ્લોલ મેં કામ રો ઠર દે જે છૂટા ભૈયા દેવ ના મામી जी इन्हें तो आप हंसी क्या करी के ताई छोटी मामी देख बोली के मेरा ना हो मार दे दूं आपको खा ले खुद को दिन मारा कसर हराम कर ये रोजिना का संगा गला जोड़ा पड़ तो ये के घर घर ला रे के कुमार मला रोजिना का नतवा बेवड़ा तेरा ना ऊपर से जो पर मारा मारा ने क्या आंगली बताओ तो आंगली दी आंख बताओ तो आंख सुधारना मारवा में मामा मैदा को राज छो तो कहीं भी मैं जगह की पाछी पर जो आई दीवार से लोग नारायण छोटी मामी जी के तेरे के कसम इतनो अनखिलो में चाले बेटा तू गरीब छे जो इस बेटा को राहत मर गया और मामा जी के यहाँ राज में आए बेटा तू उतना मत नारायण के तेरे तालुगो बड़ा खीता तो इस बेटा मगर हम तो चलती हे बता पूजा सो राड़ लेता और कोई की होती हुए जी कथाई भी मोल और राड़ लेता मामी जी चालू मुझ चोश बेटा मगर हम खीता चाहे लान करना हो जाओ मामी जी नारायण मामा जी आता गया सरा जो शाम का करना हो तो मामा के ताई विपस्थित का वो वो दे के मामा यू आपको भाड़ दो બહુમતી બદલજો ધૂમ કરી મામાજી બે દીકરા બે નારાયણ બેટા પિતૃણ પૂર્વ મતદાન મામાજીને સોચી કે જબ યાર નારાયણ આપણા शहर में रहते तो सबसे डरे थे थोड़ा पीना सो लुगाया से तो मामा छोटा ले लूने के बेटा अशी कर तू आपने के ये गया तो उतरावा जाऊं छू और ये गया का बात रू छोटा छोटा यहाँ ने बेटा जंगलों में उतरावा बाबा जी ने सोची कि जो माड़ में चल जाओ तो फिर कोई की विराट में जाखेर नारायण वेद क्या तो नारायण ने कहीं कहा तो अशा ये जंगल में एक एकदा विचार करे तो वो गांव का ही साई ना छोरा छावरा था मोती नहीं कर तो वो यूं थोड़ा जाने का भाई ये भगवान जी वो तो चीज बतलाओ उसको बतलाओ कि आज देव युग ठीक ये बोला वो छोरा छावरा वो आया देव पूजा का अरे आज तुमका तो मामा जी ने यूं कह दी कि ये बाथरू तराबा जाके बेटा तू तो माल में गियो बाथरू तराबा तो वो छोरा छापरा था गाँव बच्चे का ग्वाड़ा वो भी देख बोला था अपन भी उठी लेता हूँ गाड़ी जो है गाँव बस्ती का पांच पच्चीस गोड़ा था ना वो भी नारायण के ला रहे चले गया नारायण और रुचि की यह अच्छी बात हुई जो आपने भी साथ हुई वहां जाता है नारायण बहुत बहुत ही खुशी हो जाकर वाह आ गया तो कहा तो नारायण देख बोला देखो अशी करो જેઠાજી ગયા બેસ્યા અને મારા બા છું અહીંયા પ્રેમ શું ચડવા દો और आपन को चोपर को खेल खेला या सोची तो वाले में कोई होशियार भी छो कोई नादान भी छो तो कोई समझ वालों वाल देख बोलो कि बोले ये देव महाराज की बात मतलब कोई का नुकसान में जो डांडा डोल चल जाओगा तो अपना छोकर का जाता कर देगा गाँव में कोई देख बोला देखो नारायण देव बोला कोई को नुकसान न करवा दे તો तो में अक्कल કમરે છે શાણો आदमी हो ना तू भी बैठ जाओ गए में शाणो तेरा बाप वो नारायण देव को बोला देखो चोपड़ को खेल खेलो बोला देव चोपड़ को तो खेल खेल पर गया बेशा को फेरे को कौन मोड़ा देखो नारायण देव बोला हाँ कोई एक भी मत जाइयो और बेशा दूसरा वो फिर और चोपड़ पर तो वो शाह सुनना गोड़ा भी आशा आ गई देख मैं तो एक भी फेरवा ना जाऊँ तू ही जानी पड़े वो कैसे તો કાંઈ ચોકડો ખેલે માંડે છે કાંઈ નારાયણ ચોકડો ખેલે या नाहन की आन छे की कार के बारे जो निकल गया तो तो पड़ रही भगवान भगवान की कहान जो उतर तो कार कड़ा अब बोला देख बोल रहा भाई अब अच्छा सारा में कराए तो मुझे अब खूब ले शाम तक तो मौके नहीं जाने तो बड़ा कहीं जाने शाम तक खेल खेलो उन्होंने गया बच्चों कार के बारे में बड़ा देख बोले आज तो गया बहुत अच्छी तापे गिरो भाई कहाँ तरा रहा है जो गोडे गोडे घास में तरा रहा है कहाँ गिरे तब शाम को टेम हुए और नारायण जो आकार बता के और गया मसा का फूक दे कान में तो गया मसा ढाप नारायण की लीला घर में जावे और नारायण शाम सुबह हुई साई खेल खेला कि अब तो खेल वो खेला कि एक आड़ी तो बना लो दूल्हा की राम और एक आड़ी बना लो गोल और राण को खेल नारायण सोचा कि देखो देखा अब हर मुहिया मारो में बाजी जी को तो गोठ में जाऊंगा जो राणा के और कसर महाराज के सकराम हो तो मैंने कहा वो राम से जीतू ये ईशा कदम और राम गोखा वहाँ भोला की प्रणाम

एकदम सूर्य उगवाड्या देव महाराज से पड़े तू नारायण कदा नीचे दाब हर नारायण चार उठा जो मार कार और बेटे आओ ना तो चूकता ग्वाड़ा जी नीचे गिरा नारायण अच्छी कोई से चाल चूकता ग्वाड़ा में खत्म कर नारायण खत्म होने के बाद बहुत खुशी देखो अब ने मारे अच्छा फंसू गोठ में जाऊंगा तो अशा पोशें आखी गाण को भांगड़ो भांगड़ो बोझ और आखी गाण की पूजा सुन अशा एक लाई जंगल बहुत मना मगर वो आ रहा है धर्मा राजा थे जहां तक मेरा रखा और श्याम को टेन धर्मा राजा को है और नारायण जो अमृत को छाट लेके और वहाँ गोलिया के देखो टूटता गोलिया के क्या हो जाओ शाम की टेम ने जिंदा कर और आप आप आपको तो તો આ તનકી ઓજળ પર રહી શ્યામ કે કેમને બોલ્યા તો સમજાજે કે દેખો મારી મામી જી શું મારા મામા જી હું જાણ કીધું कि नारायण माँ को क्या लड़े ने तो मैं मारे हुए और था भी आप आपके घर में कोई भी मत कीजिए और जी जी ने कह दीजिए या बात तो जी ने तो फिर काल जी को कौन खोलू तो ज्ञान को तो मानो यार युवा ग्वाला ने पूरी कसक पेट की जो घर में कोई भी चार न और वह दनकी ने दनकी ओदर वहाँ ग्वालिया के रात में बैठ जावे जो सूता हो यार रात में दमक दमक रवा के अरे चीजें मार दिया देव महाराज ने मार दिया मार दिया मार दिया शायद बगैर तो कोई तो खाट में से नीचे पड़ जाओ हाँ कोई घटी तो पड़ जाओ अच्छा वह उदड़ लड़की उदड़ बैठी तब ये तन्मुक्ताई और नारायण तो वही खेल खेले रोजीना वहां तो ठाम देख में ली कि वहां का वहीं तो गोड़ा बेड़ा जा रहा वो कोई खेल खेले तो दो पांच तन वहां ने लड़का तो पांच लुगाया अरे दलुगा जी पे अपने गया हमेशा छोड़े ने जी बैठी जी वह देख बोली आपस में बतलावे आज तो बारी जी माँ बोल लड़को से ये खाट पर सोच सड़क पड़ गई और कशा खेर बोली अरे जी जी मारे देव मारा ने मारे मारे या कहीं उधर बैठ गई तो कशा लुगाया बाता कर रही तो एक नाई भी हुआ कि लाहर में जाओ जी नाई देख बोलो को देखो वो जल कहीं बैठ गई ता तो छह महीना में आती रांड दे रही बना छोड़ा जरे जाओगी कि क्यों वो नारायण आयो छे गोठा को और माता साडू को पुत्र छे वो रोजीना को रोजीने डांग में रार लड़े छे और चूकता बताई मिडिया का मिरे रखो छे दने जगह दाल जीवता कर लाओ कि वात वो दल भेट नीचे आके जो रात में चमकने और बागे या कहता है आपको शेर का पाउच तो बहुत गजब को खेल मुझे चलो आज मामा जी का महल में और यह भी शिकायत करो तो कहीं ने कहा शेर का मामा और मामी के कहा guide us? Um, कर लावे मामा जी के महल में મહેલમાં ચલી कि मामा जी यो शो कूट कहाँ सो लाया बड़ा छो अरे वरना ये एक दुख हो तो होगा यो तो थोड़ा छुरी है मैं बेशा तराबा जाओ छे जगता को दन मरिया रखना छे रात को खेल खेल जी और शाम को टेम और जिंदा कर लिया छे तो मां का थोड़ा छुरी तो दुबड़ा हो गया बिल्कुल मरमा में बैठा जी मामा जी अशो पुत्र मारवा में नहीं चाहिए और इन्हें तो चिटी उचिटी भगाओ नारायण का मामा जी देव बोलिया के को नारायण बेटा इतनी धूम और सब शेर शाकोशु ब्राह्मण और जो नारायण तो इतनो बेटा लड़े बल मामा आप गजब करिया छोरी आपका शहर का लोग भी गजब करे थे मामा जी आपके यह बात समझ में आ गई कि आपको दल तो मिर्या रखाना छे और शाम की टेम ने जिंदा कर लाओ मैं कोई मामा जी भगवान थोड़ो सुझिया करते जिंदा कर लाओ मामा जी अब आप मामा जी मारा मामा जी आप मर जाओ तो देखा ये जीवता कर देगा कोई शेर का मरिया हुआ आदि मामा जी जिंदा नहीं હોય છે तो ये देखो कितनो रो प्रकार से काका गुआ ने मारे से श्याम जी जिंदा कर ला तो मामा जी मरिया हुआ आदमी जिंदा होता होगा तो मामी जी का आशय नारायण ने अनादि को वाक्य सही बात है मरिया हुआ भी रांडा हुआ आदमी जिंदा हुआ जगह नहीं झूठो ना बोलो तुम्हारा नारायण नहीं राम मेरे को मारा नारायण तो मामी जी दूर नारायण के नहीं पीछे आज मेरे को झूठ बोलो चो रांडा आप तो बोचे बापो दिन मरियाणा का नजर श्याम जी टेमरे जिंदा कर ले ये नारायण जिंदा कर मेरे में कहीं जिंदा नहीं करे मामी जी ये सब झूठ बोले मेरे आदमी जिंदा कर दी मामी जी के भी आसानी का हम मर जाओ जो आदमी कृष्ण जिंदो हो जाए नहीं हमारा नारायण को तो जिंदो नाम लगे बहु राणा वहां बाप के घर में तो से का नहीं एक इनका मजा मामा मामी नारायण मामा जी का अरे महड़वा में क्रूर जो चढ़िया उड़ाया और नारायण के माड़वा में